चुनाचे जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना